ब्रह्मण जगत जन्म स्थिति ध्वंस कारण जगदाकार विकारित्व प्राप्त तदेत अति दुर्बध स्वरूप वारयति ब्रह्म जगत जन्म स्थिति ध्वंस कारण जगत का जन्म जगत की स्थिति जगत का ध्वंस उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ब्रह्म जन्मादेश ब्रह्मसूत्र में लक्षण किया गया यह तो वायुमानी भूतानि जायन्ते ये न जाता जीवंती यत प्रयंत अभिशंबिशंति तद ब्रह्म जगत जन्म स्थिति कारण ब्रह्म यदि है तो ब्रह्म जगताकार विकारित्व विकार को प्राप्त किया मृत विकार घट है घटाकार को परिणत तो हो जाता है घटाकार मिट्टी जैसे मृत का परिणाम घट ऐसे जगत आकार हो जाएगा ब्रह्म का तो ब्रह्म का विकार हो गया जगत तो, ब्रह्म विकारी हो गया विकार वाला विकारी होगा तो अनित हो जाएगा विकारी तो प्राप्तम इसका वारण करते हैं जगत का कारण होने पर भी उसमें कोई विकार नहीं होता है क्योंकि विवर्त कारण है तदेत अति दुर्भद स्वरूपत्व बारयती ये एक तारयती ये जो प्राप्त हुआ विकारित्व प्राप्त उसको वारण करते हैं तदेत वारयति किस प्रकार अति दुर्बोध स्वरूपत्व अति दुर्बोधम स्वरूपमेस्य दुखेन बोधयसे स दुर्बोध और अति दुर्बोध दुख का अर्थ बहुत प्रयत्न करने से तत्परता से श्रद्धा वाला होते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय यही अति दुर्बोध है ऐसे ऊपर ऊपर से देखने से पता नहीं चलेगा स्वल्प प्रमाद से स्वल्प प्रयत्न कर दिया प्रमाद के कारण कुछ ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं प्राप्त करने की इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो निरंतर प्रयत्न करना है साक्षात्कार होने तक यही है अति दुर्बोध विधिवत साधन अनुष्ठान करने पर भी प्राप्त होगा शास्त्रीय विधि छोड़कर अपने प्रयत्न से कोई कुछ करता रहे कोई अभ्यास कर रहा था तीन घंटा शीर्षासन करने का अभ्यास कर ले इसी प्रकार कोई कुछ अभ्यास करता है इतने मात्र से नहीं होगा प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार शास्त्र है ज्ञान होता है बोध है ज्ञान ज्ञान से मुख्य है ज्ञान है प्रमा और ज्ञान प्रमा प्रमाण से ही ज्ञान होगा प्रमाण है वेदांत प्रमाण ध्यान आदि सब साधन है अंतकोण शुद्धि के लिए सब साधन है यज्ञ दान तप सब साधन है वो सब परंपरा से कारण है किंतु ज्ञान के लिए साक्षात अंतरंग साधन है वेदांत प्रमाण से ज्ञान होगा तो श्रवण मनन निधि ध्यान श्रवण करने के लिए भी साधन चतुष्ट संपन्न हो विधिवत आचार्य के पास जा करके श्रवण करे तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जितने साधन वो भी होना चाहिए तभी होता है ज्ञान तो दुर्बोध स्वरूप है दुर्बोध स्वरूप कह करके वारण कैसे हुआ कि जगत का कारण है तो भी वह कूटस्थ है निर्विकार है असंग है निर्विशेष है शुद्ध ब्रह्म में कोई विकार नहीं विशेष नहीं क्रिया नहीं संग नहीं गुण नहीं कुछ भी नहीं है कुछ नहीं तो इसने जगत का कारण कैसे होगा तो ही दुर्बध स्वरूप है क्योंकि विकार परिणाम नहीं होता है परिणाम नहीं होकर के कारण होता है इसलिए उसको कहते विवर्त उपादान कारण और ब्रह्म निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है दोनों सर्वत्र उपादान कारण निमित्त कारण भिन्न भिन्न है किंतु यह निमित्त भी उपादान भी है और निमित्त उपादान कारण होते हुए भी ब्रह्म ऐसे कूटस्थ है निर्विकार है तो विवर्त होता है अतत्था अन्यथा अतत्व तो अन्यथा भाव तात्विक अन्यथा भाव जगत आकार से परिणाम मानेंगे तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा तात्विक अन्यथा भाव नहीं होने से अतात्विक अन्य प्रकार दिखने मात्र से वो विकारी नहीं होगा रज्जु सर्प रूप से दिखने पर भी रज्जु तो रज्जु है मरुभूमि में जल दिखने पर भी मरुभूमि सुखी है गिली नहीं है इसी प्रकार जगत माया से दिखता है तो जगत का जो जगत का कारण वो जगत ही स्वयं मिथ्या है मिथ्या जगत का कारण कहने से और कारण तो भी मिथ्या है माया से उसको कारण कहते हैं इसलिए शुद्ध रहते हुए भी जगत का कारण रज्जु रज्जु रहते हुए भी सर्प का कारण कहते हैं इसी प्रकार ब्रह्म दुर्बत स्वरूप होने से उसे विकारित्व तो प्राप्त नहीं विकारित्व तो का वारण करते हैं अनुरणीयान नहमेव तद्वन महानहम विश्वमिदम विचित्रम पुरातनोहम पुरुषोहम ईशो हिरणमयोहम शिवरूपमस्मि अणोर अणियान अणु से भी अणुतर है अणियान है अणुतर अणु है छोटा अल्प परिमाण जितने छोटा परिमाण मन से कल्पना करे श्यामा का तंडुल कहते एकादशी को चालो बनाते श्यामा का तंडुल श्यामा का तंडुल है चावल छोटा है वो सामान्य दृष्टांत के लिए कहते हैं जितने छोटा आप कल्पना करो उससे भी अणुतर है जितने अणु है उससे भी अणुतर है अति सूक्ष्म है अणुरणियान अहम एव जो ब्रह्म जगत कारण अणुरणियान अणु से अणितर अहम एव न तो मत अन्य मेरे से भिन्न कोई ऐसा नहीं अद्वितीय तत्व है अहम एव तद्वन महान उसी प्रकार महान भी है कुछ लोग आत्मा को अणुपरिमाण कहने के लिए अणुरणियान ये दृष्टांत देते हैं श्रुति में कहा गया कहा तो गया श्रुति में किंतु उसके बाद तद्वन महान भी कहा गया उसको छोड़ देंगे आत्मा अणु बताने के लिए इतने बता दिया श्रुति में कहा गया जहाँ अणु से अणुतर कहा जाता है वहीं कहते हैं तद्वत महान उसी प्रकार महान भी है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जिस प्रकार इस प्रकार महान का तो महात महान से भी महत्तर है तद्वत का तो उसी प्रकार केवल महान नहीं कह करे कि तद्वन महान जैसे अणु से अणुतर हुआ उसी प्रकार महान कहन से महत् से भी महत्तर जितने बड़ा कल्पना करे उससे भी बड़ा बड़ा है सबसे बड़ा कहते आकाश अनंत है अंत नहीं ऊपर नीचे बाएं डाएं आगे पीछे जहाँ जाओ समाप्त तो नहीं होगा आकाश इतने बड़ा है कि ये ब्रह्म उससे भी बड़ बड़ा है जो अनंत है उससे फिर बड़ा क्या होगा आकाश अनंत है कहीं उसका अंत नहीं होता है उससे भी बड़ा कहने से आकाश भी उसके अंदर है कल्पित तो, इसलिए बहा आकाश से भी बड़ा है आकाश से बड़ा कहने से आकाश उसके अंदर हो गया ब्रह्म व्यापक है ये परिचन्न है आकाश तार्किक लोग तो कहते आकाश नित्य है सब देश में सब काल में वेदांत के अनुसार सब काल में नहीं उत्पत्ति नाश होता है और सर्वत्र ब्रह्म में आकाश नहीं ब्रह्म में माया है माया में एक देश में कल्पित है कल्पित होने के कारण परिच्छिन्न है जैसे आकाश को सूक्ष्म कहा सूक्ष्म है इसी प्रकार आत्मा भी सूक्ष्म का अर्थ अनुपरिमाण परिमाण अर्थ नहीं है अति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर महान से भी महत्तर सबके अंदर है छोटे जो है अति सूक्ष्म पदार्थ उसके अंदर भी है और सबके बाहर भी सबसे बाहर भी है आकाश के बाहर भी है आकाश जैसे व्यापक और सूक्ष्म है सर्वगत होने पर सूक्ष्म है सब के अंदर प्रविष्ट है सूक्ष्म इसलिए उसको रोकने का कोई पदार्थ नहीं है पानी को तो रोक लेंगे वायु को भी रोक देंगे दरवाजे से बंद कर दिया खिड़की बंद कर दिया वायु को भी रोक लेते हैं प्रकाश को भी रोक लेते हैं काज से तो नहीं रोक पाएंगे किंतु अन्य दीवार पत्थर लकड़ी आदि से प्रकाश को भी रोक लेते हैं किंतु आकाश को रोकने के लिए कोई पदार्थ नहीं लेने के लिए भी पानी ले लेते हैं बर्तन में गिलास में लोटा में पदार्थों को ले जाते हैं आलोक को कांच के बर्तन में आलोक को ले नहीं सकते दीप जय जला दीप उसके साथ है किंतु सूर्य किरण में लेकर रखेंगे कांच उसी प्रकाश को अंदर ले आएंगे अंधकार कमरा में कांच के अंदर नहीं आएगा लोहा का बर्तन में प्रकाश रह करके ले आएंगे तो आ जाएगा वो ऐसे ही आ जाता है कुछ नहीं आता है इसी प्रकार कोई पदार्थ नहीं आकाश को ले करके चलने के लिए मजबूत लोहा का घड़ा जैसे बनाएंगे और ऊपर बंद कर सील कर देंगे उसके अंदर आकाश रहेगा रहेगा उसको लेकर जाएंगे तो आकाश जाएगा जाना पड़ेगा आकाश को आकाश को नहीं जान ले सकते हैं उसको ले जाओ आकाश सब के अंदर बाहर जहाँ जाएगा वहाँ भी आकाश है घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियतन आकाशम तद्व जीवा नभोपमा घट के अंदर आकाश है घट को लेकर चलो घड़ा को तो ले लेंगे आकाश नहीं लेता घटो नियतन आकाशम इसी प्रकार तद्व जीवा नभोपमा इसी प्रकार जीव जो आत्मा है जो मनुष्य आता है जाता है उसके अंदर आकाश रहता है नहीं रहता है आते समय आकाश को लेकर आता है बाहर नहीं अंदर ने आकाश को नहीं ला सकता है आकाश इस सूक्ष्म आत्मा को लेकर कौन आएगा आकाश जैसे सर्वत्र है जहाँ जाओ वहाँ आकाश है आत्मा सर्वव्यापक है जहाँ जाओ वहाँ आत्मा है आत्मा को कोई नहीं लाता है क्या लेकर के आता है घड़ा घड़ा में अंतकरण जल ये सर्रे घड़ा उसके अंदर अंतकरण जड़ है वो अंतकरण जब आया जहाँ अंतकरण जाता है वहाँ चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास रहता है वो चिदाभास रहने से चेतन कहते लगता है चेतन चलता है बिंब रूप चेतन व्यापक सर्वव्यापक जिसमें कोई क्रिया नहीं है क्रिया तो उपाधि में जल में दर्पण में जैसे दर्पण को चलाओ जल को चलाओ इसी प्रकार अंतकोण शरीर के अंदर चला आया दर्पण को लेकर चलो तो दर्पण में प्रतिम्ब दिखेगा घड़ा में जल है उसको लेकर चलो तो जल में आकाश का चंद्र का प्रतिम्ब भी रहेगा इसी प्रकार शरीर में अंतकण है जब आप आते हो तो ये अंतकण आया उसमें चेतन का प्रतिबिंब है बिंब रूप चेतन सर्वव्यापक होने से आप जहाँ भी जाओ अंतकण में उसका प्रतिबिंब होता है चिदाभास लगता है चेतन चलता है मनुष्य चलता है कोई पशु दौड़ता है ये चेतन है जड़ नहीं और दौड़ रहा है चेतन चल रहा है इसे लगता है जो चेतन है वास्तव वो दिखता नहीं जो दिखता है वो चेतन नहीं है दिखता है तो शरीर फिर भी उसको चेतन कहते हैं चिदाभास के संबंध से चिदाभास है तो चेतन कहते हैं चिदाभास नहीं तो जड़ कहते हैं तो जो चेतन चलता है जिस चेतन में क्रिया है जिस चेतन में कर्तृत्व तो कहते वह शुद्ध चेतन नहीं है जड़ तो करता नहीं होगा शुद्ध चेतन भी करता नहीं है वो देहादि के साथ चिदाभास के संबंध से बुद्धि में चिदाभास चेतन का प्रतिबिंब हुआ वही क्रिया सब करता है और बुद्धि के संबंध से शरीर में भी चैतन्य दिखता है व्यापक है चिद्रूप बिंब रूप चेतन सूक्ष्म के सूक्ष्म है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है उसके अंदर भी है और बाहर है सबके बाहर है जैसे आपके अंदर आकाश है बाहर भी आकाश है जो आकाश आपके अंदर है और बाहर है वही आकाश सबके अंदर बाहर भी है कितने आकाश है हजार व्यक्ति बैठेंगे तो सबके अंदर आकाश कितने हो जाएंगे एक ही आकाश है इसी प्रकार चेतन एक ही है अलग घड़ा होने पर भी आकाश भिन्न भिन्न नहीं होता है क्योंकि आकाश का विभाजन किसी पदार्थ से नहीं होता है लोहे को तो काट देते आरी से आकाश को काटने के लिए क्या चाहिए चक्कू या खड़ग या कुठार जलाने के लिए कुछ नहीं है विभाग नहीं होता है विज्ञान तो बहुत आगे पहुंच गया किंतु अभी तक तो आकाश को दो टुकड़ा करने के लिए कोई नहीं निकला यंत्र वो तो आकाश को कुछ मानते नहीं कि आकाश को है ही नहीं ये तो वेदांत में कहते पांच भूत में आकाश एक भूत है जिस प्रकार आकाश का विभाजन नहीं होता है सर्वव्यापक है इसी प्रकार उससे भी सूक्ष्म उससे भी महत्तर है चेतन उसका कारण और सूक्ष्म है उसका भी विभाजन नहीं होता एक ही चेतन सर्वत्र है महत से भी महत्तर है महान से भी महत्तर है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर महान से महातर वही सत्य है आत्मा चैतन्य व्यापक है वही अहम विश्वम सर्वम इदम विचित्रम सारे विचित्र जगत सब कुछ पुरातनो हम ये जगत उत्पन्न हुआ तो अहम यदि विश्व जगत है तो हुआ चेतन भी अभी हुआ होगा कहते पुरातन हम ये नित्य है अनादि है पुरातन हम पुरुष पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं पुरुषो हम ईश यहाँ पुरुष स्त्री के लिए पुरुष ऐसा नहीं पुरुष का तो पूर्ण है व्यापक ईश्वर वही है वही जगत कारण माया युक्त होकर ईसा है हिरणमय है प्रकाशमय स्वयं प्रकाश है शिवरूपम अस्मि वही शिवरूप कल्याण रूप में हूँ स्वरूप के अज्ञान से ही देहादि में अहम बुद्धि करके ही दुखी संसारी होता है बिंब रूप चेतन जिस प्रकार आकाश स्थिर है जल में उसका प्रतिबिंब दिखता है जल में कंपन होने पर आकाश में कंपन दिखता है आकाश में चंद्र है तो उसका प्रतिबिंब भी दिखता है जल में जल में कंपन होने पर प्रतिबिंब में कंपन दिखता है बिंब में कोई कंपन नहीं होता है बिंब में भेद नहीं हजारे घड़ा में जल में घड़े में चंद्र का प्रतिबिंब बहुत दिखेगा बहुत प्रतिबिंब होने पर आकाश में बिंब एक रहेगा या अनेक हो जाएगा एक ही है जब घड़ा को हिलाएंगे तो ऊपर आकाश में चंद्र थोड़ा थोड़ा हिलेगा नहीं घड़ा को तोड़ देंगे प्रतिबिंब रहेगा घड़ा में नहीं रहेगा आकाश में चंद्र उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा जितने प्रतिम्ब नष्ट हो उत्पन्न हो जल भरे तो प्रतिम्ब दिखेगा जल छेद कर चला गया प्रतिम्ब नहीं दिखेगा शरीर से अंतकोण चला गया तो मर गया कहते हैं चेतना चला गया चेतना व्यापक सबके अंदर बाहर है चिदाभास चला गया चेतने के कुछ नहीं होता जन्म वर्ण कुछ नहीं है ऐसे घट की उत्पत्ति घट का नाश तो कहते घटाकाश उत्पन्न हुआ घटाकाश नष्ट हो गया आकाश में उत्पत्ति नाश नहीं है शुद्ध चेतन में जन्म मरण है ही नहीं देह की उत्पत्ति से कहेंगे देवदत्त वो पुत्र उत्पन्न हुआ देवदत्त का उसका शरीर उत्पन्न हुआ शरीर विशिष्ट आत्मा में जन्म और अंतकरण चला गया सूक्ष्म शरीर तो कहे मर गया मर जाने पर मरते समय क्या जाता है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर चल जाता है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का आत्यंतिक वियोग सपना में स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है किंतु फिर आ जाता है सरस्वती में सूक्ष्म शरीर जा करके अज्ञान में रह गया लीन हो गया तो फिर आ जाता है वियोग तो होता है सरस्वती अवस्था में स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर चला जाएगा अज्ञान में किंतु फिर आ जाता है अब मृत्यु काल में वियोग हो जाता है आत्यंतिक वियोग फिर उसको नहीं ला सकते हैं और सूक्ष्म शरीर निकल गया अभी वैज्ञानिक और डॉक्टर बड़े बड़े मिलकर के सूक्ष्म स्तर को ले आकर फिर रख देंगे नहीं होगा वो आत्यंतिक व्यूहता होता ही मरण है चला गया सूक्ष्म स्तर चला गया आत्मा चला जाएगा रहेगा आत्मा में गमनागमन कुछ नहीं है जन्म वर्ण कुछ ही नहीं सर्वव्यापक है वो शिव रूप कल्याण रूप सर्वव्यापक चेतन अद्वितीय है वो ही निष्क्रिय है अत्यंत शुद्ध है ना कोई क्रिया है कोई गुण है कोई धर्म है कुछ नहीं प्रतिबिंब में कुछ दिखे प्रतिबिंब में का धर्म दर्पण में को उपाधि को हिलाएंगे उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में दिखेगा बिंब में कुछ नहीं होता है सामान्य दर्पण को रहो हिलाओ तो मुख हिलेगा ना नहीं दर्पण में प्रतिबिंब हिलेगा मुख को हिलता नहीं इसी प्रकार कल्याण स्वरूप है कोई विकार नहीं है निर्विकार एक रूप है आत्मा वही अपना स्वरूप उसके ज्ञान नहीं होने से प्रतिम्ब में चिदाभास देहादि में अहम बुद्धि करके मैं सुखी मैं दुखी मैं मनुष्य मैं पुरुष मैं स्त्री ये सब है आत्मा सर्वव्यापक है सबके अंदर एक है इसलिए कहा सुनी चाहिए सपा के पंडिता सम दर्शन सम ब्रह्म दर्शिन सर्वत्र ब्रह्म एक ही है भेद नहीं है आकाश में भी भेद नहीं और आकाश का कारण आत्मा में क्या भेद होगा टीका में अणोरणी अणोर अणुपरिमाणाद अणियान अतिशयन अणु अणु का तो अणुपरिमाण से अणियान अणियान शब्द का तो अणुतर अतिशयन अणु जो कौन है अहमेव जगत कारणभूत अहमेव जगत का कारण स्वरूप जो ब्रह्म आत्मा है वही अहमेव अहम प्रत्यय व्यवहार योग्यो न तो अन्य अहम प्रत्यय अहम ऐसे ज्ञान अहम ऐसे व्यवहार का योग्य चेतन आत्मा एक है वही जगत कारण है न तो अन्य कोई है ही नहीं अलग एक ही तत्व है न तो अन्य तद्वत का अर्थ अहमेव तद्वत का अर्थ उसी यथा अणु सतामान जिस प्रकार अणु है से महान है अणु से भी अणुतर है तो महान से भी महत्तर है तद्वत का तो उसी प्रकार यथाणु तथा महान सर्वस्मात अधिक सबसे अधिक है सबसे भी महत्तर है जितने महान उससे भी महत्तर है विश्व अहम व्याख्यातम वही अहम का अहम इसे प्रत्ययम चिद्रूप आत्मा लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ नहीं लेना देह विशिष्ट को नहीं लेना अहम जो कहा जगत कारण है शुद्ध चेतन है शुद्ध चेतन भी कारण कैसे होगा माया से माया से कारण का तो माया के कोई आने से कारण बन करके जगत बनाएंगे कुलाल बैठा है मिट्टी लाने पर घट बनाएगा इस प्रकार ब्रह्म है माया आने पर दोनों मिल करके जगत बनाएंगे भोजन जैसे पकाते ऐसे नहीं कुछ बनता नहीं माया से क्या तो माया अनिर्वचन मिथ्या है जादूगर जैसे दिखा देता है ऐसे देखा देता है ब्रह्म से जगत दिखता है अज्ञान से माया से माया से मतलब माया कोई पदार्थ नहीं है वो कार्य दिखता है तो कारण शक्ति को माया शब्द से कहते हैं जगत दिखता है तो ब्रह्म में शक्ति की कल्पना करते हैं नहीं तो कहाँ से जगत आएगा और यदि समझ लिया माया मिथ्या है तो जगत मिथ्या है जगत मिथ्या है तो उसका कारण शक्ति भी मिथ्या है और जगत मिथ्या समझने के लिए दृष्टान्त है स्वप्न दृष्टान्त स्वप्न में प्रपंच ऐसे दिखता है सत्य लगता है कि न मिथ्या है जगन के बाद स्वप्न प्रपंच नहीं रहा इसी प्रकार जब तक अभी सोया हुआ है अनादिकाल से निद्रा से जब जग जाएगा ज्ञान हो जाएगा देख क्या जगत है ही नहीं जागृत प्रपंच भी लगता हम जगे हैं सपने में क्या लगता हम सोए हैं हाँ जगे सपने में लगता हम जगे हैं कोई कहेगा तुम सपना देखते तो नहीं माने हम जगे हुए इसी प्रकार अभी लगता है जगे हुए अभी भी सोया हुआ कब से सोया हुआ अनादि माया सुप्त अनादि माया से सोया हुआ यदा जीव प्रबुद्धते जब जगता है तब समता है अजम अनिद्रम असपनम अद्वैतम बुद्धते तथा ये सत्य लगता है किंतु वास्तव आत्मस्वरूप में कुछ है ही नहीं है जगत का अधिष्ठान है जगत की प्रतीत होने पर भी जगत की उत्पत्ति वास्तव नहीं है दिखता है इसलिए उत्पत्ति कल्पना करते हैं राज्य में जो सर्प दिखता है वो सर्प की उत्पत्ति और सर्प का नाश सर्प मर गया सर्प उसमें घुस गया ये सब शब्द प्रयोग करते हैं दिखता है इसलिए मिथ्या है जब समझ लिया मिथ्या है तो उसकी उत्पत्ति क्या है कुछ नहीं दिखना ही है केवल अनियसाम महताम कारण च यथा भेद तथा वापि सियाद अनियसा महताम कारण अणुतर है महत्तर है कारण का सब भिन्न भेद रहता है तो इसी प्रकार इसमें भेद होगा तथा वापि अस्य भेद हो जाएगा इततः विश्वमिदम सर्व कुछ सब एक ही विश्व में सारे विश्व में ही हूँ सारे विश्व कौन साविद्यम विग्रह कैसे होगा साविद्यम अविद्यया सह इति साविद्यम सूत्र तेन सहेति तुल्य हो गए बहुवृष अविद्या के साथ अविद्या माया के साथ सारा जगत जगत है कार्य अविद्या है कारण सारे कार्य कारण जितने हैं सब कुछ अध्यस्त है ब्रह्म में कार्य क्या है भूत भौतिक प्रपंच जातम कारण है अविद्या और उसको छोड़कर बाकी सब कार्य है क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते गीता में रोज बोलते हैं ना गीता में जो पाठ करते हैं ना श्लोकों का भी अर्थ है जैसे गीता पाठ करते समय थोड़ा अर्थ भी सोच लो <laughs> भोजन में दृष्टि के बोला है गीता पाठ होता है कोई पाठ भी नहीं कर पाते हैं ज़्यादा दृष्टि में उसमें ज़्यादा आग्रह हो तो पाठ भी बंद हो जाता है एक साथ तो दोनों नहीं हुआ ना किंतु यदि अर्थ चिंतन करे रोज बोलते द्वाविमो पुरुषो लोके दो पुरुष है एक अक्षर पुरुष है ढेर राशि और एक अक्षर क्षर कौन अक्षर कौन स्वयं भगवान कहते क्षर सर्वाणी भूतानि सारे भूत कार्य क्षर है और कूटस्थ अक्षर कारण है अक्षर कार्य है क्षर और कार्य कारण से विलक्षण है शुद्ध चैतन उत्तम पुरुष स्तन्य उत्तम पुरुष है कार्य कारण से विलक्षण है कार्य कारण का अधिष्ठान है वही कहते अविद्या और उसके कार्य भूत भौतिक प्रपंच वो सब कुछ ब्रह्म में अध्यस्त है अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से अलग नहीं है वो अधिष्ठान ही है जो सर्प दिखता वो सर्प रज्जु ही है रज्जु से भिन्न नहीं है अविद्या अविद्या के कार्य भूत भौतिक प्रपंच जातम सारे प्रपंच अहम एवं मैं ही हूँ दृग रूप चेतन अहम इस शरीर को मिला करके सो तो नहीं समझना जो दृक चेतन शरीर है दृश्य और दृक है जानने वाला ज्ञेय दृक होता है चेतन क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला वही क्षेत्रज्ञ है अहम एव अहम व्याख्यातम वही अहम प्रत्यगम्य अहम इसे कहा जाता है अहम कहते समय अधिष्ठान चैतन्य भी रहता है देहादि को मिला करके कहते हैं अनात्मा को छोड़ दे तो वही ब्रह्म है घटो अस्थि कहते घटो अस्थि अस्थि कहते तो सदरूप है सत्य के साथ घट को मिला करके घटो अस्थि घटो अस्थि घट सन ऐसे कहते हैं घट मिथ्यांश को छोड़ तो सदरूप रहा एक सद और एक मिथ्या सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य अध्यास हुई है सदरूप अधिष्ठान है और बाकी अध्यस्त है दोनों को एक मिला करके अहम अहम कहेंगे तो अधिष्ठान चैतन्य भी है और शरीर सूक्ष्म शरीर चिदाभास भी है अनात्मा को मिला करके अनात्मा को छोड़ देंगे तो कोई रहेगा कुछ अधिष्ठान चेतन रहेगा वही अहम जो बुद्धि का साक्षी वही है जो साक्षी रूप से कहा गया वही अधिष्ठान चैतन्य सारा प्रपंच जातम अहम अहम का था मेरे से भिन्न नहीं है प्रपंच है ही नहीं केवल आरोपित दिखता है सर्प रज्जु ही है सर्प नहीं किंतु रज्जु है सर्वम खलुदम ब्रह्म सब कुछ जो दिखता है ब्रह्म ही है सर्वम खलुदम ब्रह्म कहा सब ब्रह्म है तो कहीं कहा सर्वम अहम कहा अहम वेदम सर्वम छांदोग्य में भूम विद्या में आया आत्मे वेदम सर्वम अहमे वेदम सर्वम भूमा भूमा आत्म तत्व तो ही अहम है तो जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहा गया देवी भागवत में सर्वम खलु इदम एवाहम सर्वम खलु इदम ब्रह्म सामवेद में मंत्र है देवी भागवत में देवी विष्णु भगवान को कहती सर्वम खलु इदम एवाहम सब अहम मैं ही हूँ देवी भागवत में आया बटपत्र आय विष्णवे बाल रूपिणे श्लोकार्ध्यन तया प्रोक्तम भगवत्या अखिलार्थतम बटपत्र में सोए हुए विष्णु भगवान बच्चा बाल रूप से प्रलय काल में जल में विष्णु भगवान बच्चे होकर के बटपत्र के सोए हुए उनको लगा मैं क्या हूँ क्या है ये सब दिखता है मैं कौन हूँ कहाँ से आए ये सब क्या है तो देवी उनको उपदेश करती है सर्वम एवाहम ये सब अहम है नान्य दस्ति सनातनम सर्वम खल इदम एवाहम नान्य दस्ति सनातनम इतने उपदेश आधा श्लोक है सर्वम खल इदम एवाहम नान्य दस्ति सनातनम अहम एक तत्व है उसको छोड़कर और कुछ है ही नहीं नित्य यही है है न तया प्रोक्तम भगवत्या भगवत ने आधे श्लोक से उपदेश किया विष्णु भगवान को वो उपदेश क्या करेगा अखिलार्थदम सारे अर्थ को धर्म धर्म अर्थ काम मुख्य सबको देने वाले जो ज्ञान हो गया तो ब्रह्म मुख्य प्राप्त हो गया तो बाकी पुरुषार्थ सब उसके अंतर्भूत हो गए अखिलार्थ दम ये उपदेश यही उपदेश सारे सर्वम खलुदम एवाह सर्वम ब्रह्म कहो गीता में कहते वासुदेव इदम वासुदेव सर्वम बहुनाम जन्म नामते ज्ञान भान प्रपद्यते वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम कहो सर्वम ब्रह्म कहो अहम कहो ब्रह्म सर्वम अहम एक ही तत्व है अधिष्ठान इसे सारे प्रपंच जात अहम वही ब्रह्म है अस्य जगत तत्वाद भेद राहित्य स्वास्मात अभेद सैतः जगत तत्व से भिन्न नहीं है तत्व आत्मतत्व से भिन्न नहीं है आत्मतत्व अपने स्वरूप अपने से भी अभेद सैत अभेद ही है जगत इतः विचित्रम तो जगत अपने से भिन्न नहीं है तो भी जगत में नाम रूप विचित्र दिखता है विचित्रम विविधम स्वयं अनंत भेदवत इत्यर्थ वही स्वयं अनंत भेद वाला दिखता है अज्ञान के कारण जगत भिन्न भिन्न दिखता है अलग अलग दिखता है तद से तस्य तवापि आधुनिक तुम सियाद इत्यतः जगत से अभिन्न यदि आप हो तो आप भी आधुनिक जगत अभी उत्पन्न हुआ तो आप भी उत्पन्न हुए अभी पहले नहीं थे जगत से अभिन्न ब्रह्म सर्वम ब्रह्म तो सब जगत उत्पन्न होता है तो ब्रह्म भी उत्पन्न होता है तो कहते ये जब जगत से अभिन्न यदि आप है तो तब आप आधुनिक तो उनसे आता अभी अभी ये सब मकान आदि अभी बने जगत अभी उत्पन्न हुआ तो अभी अभी उत्पन्न हुए इतः पुरातनो हम हम पुरातन है जगत ऐसे दिखता है वास्तव जगत है ही नहीं जगत ब्रह्म का अर्थ जगत नहीं किंतु ब्रह्म है जगत अभिन्न है जगत अभिन्न ब्रह्म जो कहा जगत नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है मिथ्या नहीं उसका बाद समानाधिकरण जगत ब्रह्म है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम ब्रह्म जगत हरि रेव जगत जगत एव हरि कहते जगत भगवान ब्रह्म है जगत नहीं किंतु ब्रह्म है तो ये है उनसे बाद हो जाने से नाम रूप छोड़ दिया अधिष्ठान नाम रूप आधुनिक है अभी प्रकट हुआ अभी दिखता है किंतु अधिष्ठान ब्रह्म पुरातन चिरंतन है <clears throat> उसमें दृष्टान्त देते हैं आधुनिक सर्प धारा बलिवर्द मूत्री तत्वादि अभिन्ना चिरंतन रज्जुरीव अहम व्याख्यातम आधुनिक सर्प अभी सर्प दिखता है रज्जु ही थी अभी सर्प दिखता है अभी रज्जु है अभी रज्जु भी है सर्प भी है भ्रांति काले में सर्प है या नहीं भ्रांति काल में सर्प नहीं पहले तो था सर्प तीनों काले में नहीं है सर्प कोई कहता सर्प कोई कहता नहीं सर्प नहीं कोई जल धारा है पानी चल रहा है सर्प नहीं है दूसरा कहता है नहीं बलिवर्द मूत मूत्रित बैल ने मूत लिया मूत्र ने इसे दिखता है चिन्ह बलिवर्द मूत्र चिन्ह और कोई कहता है दंड है कोई कहता है भूत छिद्र कोई रेखा है विभिन्न प्रकार कल्पना करते कोई कहता माला है ये सब जितने हैं उससे अभिन्न है रज्जू अध्यस्त वस्तु से अभिन्न का अर्थ अध्यस्त वस्तु नहीं है किंतु अधिष्ठान है सारे अध्यस्त वस्तु मिथ्या कल्पित है अधिष्ठानी सत्य है चौर स्थाणु अर्थात चोर नहीं किंतु स्थाणु है सर्प रज्जु है सर्प नहीं किंतु रस्सी है ये अभिन्न है ये सब जो आधुनिक दिखते हैं वही अधिष्ठान ही वास्तव है बाकी सब आधुनिक है चिरंतनी पहले रज्जु थी भ्रम होने के पहले भी रज्जु थी भ्रम नष्ट होने के बाद वो रज्जु ही वही चिरंतनी रज्जु रिव रज्जु के समान सर्प जलधारा बलिभद्र भूचिद्र आदि की अपेक्षा रज्जु जैसे पहले है इसी प्रकार अहम चिरंतन रज्जु सर्प काल में सर्प के सर्प नहीं रहे सर्प की उत्पत्ति के पहले सब हमेशा एक रूपे रज्जु तो रज्जु है ब्रह्म हो जाने पर भी रज्जु में कोई परिवर्तन नहीं होता है बहुत लोग ब्रह्म हो गया सर्प दौड़ कर हाथ पर तोड़ते हैं तो टूट जाते हैं तो उस समय रज्जु में थोड़ा सर्प का विष आ जाएगा ना नहीं रज्जु तो रज्जु ही है इसी प्रकार रज्जु रिव अहम एक ही चिरंतन एक रूपये इसलिए उसको कहते अच्युत च्युत नहीं होता अपने स्वरूप से स्वरूप से मैं एक ही रहता है पुरुष है पुरुष का तो परिपूर्ण वस्तुतः परिपूर्ण है वास्तव है परिपूर्ण वस्तु तो कौन से देहादि कल्पित है ये तो परिचन्न हो जाएगा किंतु वस्तु तो जो चिद्रूप आत्मा व्यापक है अहम व्याख्यात अहम है चिद्रूप आत्मा दृग रूप है अविद्या दशायाम ईश नियंता जो ईश्वर है नियामक है वो भी अविद्या दशायाम अज्ञान अवस्था में ही ईश्वर नियामक है ज्ञान हो जाने पर कोई नियामक और कोई नियम्य ये दो भेद रहेगा नहीं नियम्य नियामक भाव अज्ञान अवस्था में अंतर्यामी है नियामक सबके अंदर रहकर नियमन करने वाले अज्ञान अवस्था में ही है ज्ञान होने पर कोई भेद नहीं है नियम्य और नियामक दो होना चाहिए दो होगा तो निया ईश्वर नियामक होगा ज्ञान होने के बाद भेद मात्र समाप्त हो जाएगा अद्वितीय ब्रह्म उसमें ईश्वर भी अवस्था में है जिसको हम ईश्वर शब्द से कहते हैं ईश्वर का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन है वाच्यार्थ है माया विशिष्ट चेतन माया विशिष्ट चेतन जो वाच्यार्थ है जीव के साथ उसका अभेद नहीं होता है लक्ष्यार्थ शुद्ध दृक शुद्ध चेतन एक है वाच्यार्थ में अभेद चिंतन नहीं होता है करना नहीं चाहिए लक्ष्यार्थ में अहम ब्रह्म अहम ईश्वर इसे कहे तो अहम ईश्वर भी कहे लक्ष्यार्थ को लेकर के ईश्वर कहे तो कोई आपत्ति नहीं ईश्वर माने वाच्यार्थ को लेंगे तो अहम ब्रह्म कहो तो भी भ्रांति है लक्ष्यार्थ में एकत्व है तो ईश्वर नियंता ये अविद्यादशा में ईश्वर है नियंता नियंत्रित्व सामर्थ्य मह नियामक होने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए नियामक होने के लिए हिरणमय हिरणमय प्रकाशमय है तो ज्ञान प्रचुर ज्ञान तत्प्रधान व ज्ञान प्रधान हिरण प्रधान प्रकाशमय आदित्यस्थ आदित्यस्थ तत्प्रधान व आदित्यस्थ आदित्य में स्थित प्रकाश रूप है आदित्य मंडल में प्र है वही प्रकाश हिरण में पुरुष सर्व कार्य आत्मा अहम अहम सर्व कार्य कारणात्मा सब कार्य रूप सब कारण रूप कार्य कारणात्मक कार्य कारण जितने सब कल्पित होने से वही आत्मा है कार्य कारण है आत्मा ऐसे उसका स्वरूप है अधिष्ठान ही सब कार्य कारण रूप से दिखता है जब ज्ञान हो जाता है दृग रूप चेतन में निश्चय हो गया और दृग रूप चेतन ही वास्तव स्वरूप सब का सारे पदार्थ का वास्तव स्वरूप दृग रूप चेतन अहम ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वो भी सर्वात्मक हो गया जो दृक रूप चेतन सर्वात्मक है वो सो अहम अस्मि निश्चय हो गया तो अहम सर्वात्मक सारे कार्य कारण का आत्मा है स्वरूप अधिष्ठान है ये व्याख्यान क्या है अहम दृग रूप चेतन जो लक्ष्यार्थ है साक्षी है कूटस्थ है बुद्धि का भी जो साक्षी है प्रकाशक वो साक्षी जो तीनों अवस्था का से विलक्षण वही साक्षी है एक दृग रूप चेतन अधिष्ठान सारे जगत का वही शिव रूपम मंगल स्वरूपम मंगल मंगलम स्वरूप में से मंगल है आनंद स्वरूप है कोई दुख है नहीं कोई अमंगल नहीं कोई अशुद्धि नहीं है एक दृग रूप चेतन है जो शुद्ध है निर्विशेष है उसको छोड़कर बाकी सब सविशेष है सब अशुद्धि हो गए माया से सब अशुद्धि है अरे माया नहीं तो अशुद्धि कुछ है ही नहीं माया से ही जितने माया का कार्य अज्ञान का कार्य सब अशुद्ध है शुद्ध है केवल अधिष्ठान है रज्जु में जितने कल्पित है सब कल्पित मिथ्या है सत्य तो रज्जु है दीर्घ रूप चेतन सत्य बाकी सब मिथ्या है सारे जगत इसलिए शिव रूप है अधिष्ठान चेतन आनंद रूप है नित्य है शांत है उसका कोई परिवर्तन कभी हुआ नहीं है कोई परिवर्तन कर भी नहीं सकता है साधन करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए बंधन अज्ञान से है अज्ञान का जो बंधन है उसका नाश करना ज्ञान से नष्ट होगा ज्ञान के बिना मिथ्या बंधन की निवृत्ति नहीं होती है मिथ्या बंधन की निवृत्ति ज्ञान मात्र से ज्ञान हो गया तो मिथ्या बंधन हट गया तो यही केवल ज्ञान प्राप्त करना अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान वस्तुतः क्या करना है आत्मा का कुछ बिगड़ा उसका सुधार करना है साधन करके तो किसका सुधार करना है अनात्मा का सुधार करना है तो फिर क्या करना है प्रयत्न करते साधन करते क्या करने के लिए आत्मा में कुछ परिवर्तन हुआ उसको सुधार करना है आत्मा में कुछ परिवर्तन कुछ हो नहीं सकता है कोई कर नहीं सकता है आप उससे भिन्न है आपका आत्मा अलग है आपका आत्मा अलग है या आप आत्मा से भिन्न है ये आप, आप आत्मा ये आत्मा कहते समय आत्मा तो हमारा शुद्ध है अर्थात तो हम तो अशुद्ध है हमारा आत्मा कहीं शुद्ध है हमारा आत्मा ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है हमारे स्वरूप हमारा आत्मा ये ऐसे विकल्प प्रयोग होता है विकल्प प्रत्यय होता है शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प भेद नहीं होने पर भेद व्यवहार होता है भेद नहीं है अपना स्वरूप ही स्वयं है स्वयं स्वरूप आत्मा है एक स्वरूप है उसका कुछ परिवर्तन कुछ हुआ नहीं कहीं कोई कर नहीं सकता है जितने भ्रम होने पर रज्जु तो रज्जु ही है कुछ परिवर्तन नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है और अनात्मा का क्या सुधार करना है अनात्मा मिथ्या है झूठा है केवल इतने समझना है आत्मा अनात्मा का विवेचन कर देना मैं ही दीर्घ रूप चेतन हूँ मेरे में सब अध्यस्त है ये समझ लिया तो किसका सुधार करना है अधिष्ठान का सुधार करना है और जो मरुह में जल दिखता है उसको सुखाना है पंप लगा कर घटाना है मरुह में सुखा है सुखी है उसमें जल दिखता है जो जल दिखता है उसको हटाने के लिए कितने परिश्रम करें तो जल हटेगा बड़े बड़े पंप लाकर सुखाना पड़ेगा कुछ करना नहीं अधिकता रहे तो क्या हो जाएगा मरुभूमि कुछ गिली हो जाएगी इसी प्रकार आपके सामने दर्पण दस बीस दर्पण रखकर हिलाएंगे टेढ़ा मेढ़ा दर्पण काले आदि दर्पण रखें तो मुख का प्रतिबिंब अलग अलग दिखेगा तो क्या करना है दर्पण को हटाना है या अपने मुख को ठीक करना है मुख स्थिर है मुख में काला है ही नहीं दर्पण में काला दिखता है दर्पण में काला दिखेगा तो मुख काला हो जाएगा ना नहीं दर्पण में टेढ़ा मेढ़ा हो तो मुख में टेढ़ा मेढ़ा है ही नहीं दर्पण आगे हिलता रहता है कंपन होता है तो आपका क्या बिगड़ता है सारा संसार ऐसे कुछ होने पर भी दृग रूप चेतन में कुछ नहीं आनंद स्वरूप है शिवर मंगल स्वरूप है माया मेघो जगन निरम वर्षत्य से यथा तथा चिदाकाश से नो हानि न वा हो न वा लाभ इति स्थिति माया से जगत आने के उत्पत्ति स्थिति प्रलय कुछ हो चिद्रूप आकाश में उसमें कुछ वर्षा से जैसे आकाश का कुछ नहीं होता है चिद्रूप ब्रह्म का कुछ नहीं होता शांत स्वरूप शांत स्वरूप होने पर भी अज्ञान के कारण अशांत दुखी संसारी से भान होता है प्रयत्न किया जाता है अज्ञानी की निवृत्ति के लिए और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान मात्र से अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के बिना नहीं होगी अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही इसलिए ज्ञान ही साधन है मोक्ष का ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक है मोक्ष का साधन जो कहते वो भी गौण प्रयोग है आत्मा नित्य मुक्त है बंधन है ही नहीं अज्ञान से भ्रांति होती मैं बद्ध मैं संसारी मैं दुखी अज्ञान नष्ट हो गया तो बंधन समाप्त हो गया और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही ज्ञान के लिए प्रमाण से ही ज्ञान होगा बाकी जितने साधन सब अंतगुण शुद्धि के लिए हाँ अंतगुण शुद्धि के बिना भी ज्ञान नहीं होगा वेदांत श्रवण करने के पहले ये सब साधन करे तो अंतगुण शुद्ध हो तो वैराग्य होगा वैराग्य हो जिज्ञासा हो तब ज्ञान होगा जिस प्रकार जल दर्पण आदि में मैला है जल में कंपन है प्रतिम्ब साप नहीं दिखता है काई महिला को हटा दो नील को ऊपर हटा दो स्थिर हो गया तो प्रतिम्ब साप दिखता है अंतगण में ही सब काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि है पाप सब ये सब पाप के कारण सब है महिला है वो महिला को हटाने पर ही स्वच्छ प्रति अभिव्यक्ति होती है अंतकोण शुद्धि की आवश्यकता है उसी के लिए बाकी सब साधन है सब साधन करने के बाद वैराग्य होता है वैराग्य हो तो समझ लेना अंतकोण शुद्ध हुआ है वैराग्य नहीं तो शुद्ध नहीं हुआ और वैराग्य होने पर ज्ञान होगा वैराग्य होने पर अर्थात जितने भक्ति उपासना जप ध्यान तीर्थ सब कुछ हो कोई कहते ध्यान से बढ़ कर और क्या साधन है ध्यान कर बैठे वो निधिध्यासन अलग है ध्यान अलग है ध्यान सामान्य लोग कर लेते हैं वो जो ध्यान है इतने मात्र से मोक्ष नहीं होगा ज्ञान होगा ध्यान करके बैठेंगे तो ज्ञान हो जाएगा साक्षात्कार ज्ञान ध्यान कर बैठे तो ज्ञान होगा ना नहीं प्रमाण से ज्ञान होगा प्रमाण है चक्षुरादि प्रमाण से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है ध्यान में बैठेंगे तो सामने परमात्मा आ जाएंगे चक्षु से दर्शन हो जाएगा साक्षात्कार हो जाएगा यह नहीं है चक्षुग्राह्य नहीं है यह चक्षुता न पश्यती चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होता है चक्षु से ग्रहण होगा तो क्या दिखेगा मिथ्या है इंद्रियों का विषय होगा तो मिथ्या है इसलिए अधिष्ठान जो दृग रूप चेतन अपना स्वरूप है उसका ज्ञान होता है प्रमाण से वेदांत प्रमाण ही है और कोई प्रमाण नहीं और वेदांत प्रमाण से क्या होगा ज्ञान होगा तो वो ब्रह्म का प्रकाश होगा ऐसा नहीं है ब्रह्म का प्रकाश नहीं केवल आवरण की निवृत्ति होती वेदांत प्रमाण से जो ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति उससे आवरण की निवृत्ति होती है आवरण निवृत्त हो गया स्वयं प्रकाश रूप है प्रयत्न यही किया जाता है अंतकोण शुद्ध हो जाए तो प्रमाण से ज्ञान होगा अंतकोण शुद्धि का साधन बहुत है वेदांत श्रवण भी एक अंतकोण शुद्धि का बड़ा साधन है किंतु वेदांत श्रवण भी प्राप्त होता है तभी कुछ बहुत जन्म के पुण्य से नहीं तो श्रवण भी प्राप्त नहीं होता है प्राप्त होने पर भी उसका ग्रहण नहीं होता है श्रद्धा नहीं होती पूरा कर नहीं पाते छोड़ देते हैं ये सब पाप के कारण यदि वेदांत श्रवण प्राप्त हो थोड़े समझने में आता है तो अंतकोण शुद्धि का भी साधन है प्रमाण से तो ज्ञान का साधन है और शुद्धि का भी साधन है वेदांत विचार करते करते आत्म तत्व का विवेचन यही उपासना है परमात्मा की जो उपासना है परमात्मा स्वरूप का चिंतन उपासना स्तुति जितने करते स्तोत्र पाठ करते ध्यान करते क्या करते उनके स्वरूप का ही ध्यान चिंतन परमात्मा स्वरूप का कोई तो उपाधि विशिष्ट स्वरूप का ध्यान करता है कोई शुद्ध स्वरूप का ध्यान करता है कोई नहीं जान करके उनके भूषण का भी चिंतन करता है मुकुट का चिंतन करता है ठीक है किसी प्रकार चिंतन करता है तो अच्छा है किंतु मुकुट को परमात्मा सोच कर कोई ध्यान करता है और कोई परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर ध्यान करता है कौन सा अच्छा है परमात्मा को जान देख करके ध्यान जो स्वरूप को जान करके ध्यान करे और कभी मुकुट को परमात्मा समझ कर ध्यान करे तो परमात्मा स्वरूप का वास्तव स्वरूप जानकर चिंतन करे तो और अच्छा है वास्तव स्वरूप को जानने के लिए ही ये सब शास्त्र है प्रमाण वास्तव स्वरूप का विचार और अपना स्वरूप वास्तव समझ ले कूटस्थ साक्षी परमात्मा का स्वरूप चिंतन यही है उपासना यही है भक्ति भक्ति है भजनम चिंतन निरंतर ध्यान है चिंतन परमात्मा स्वरूप तो परमात्मा का वास्तव स्वरूप को समझने के लिए माया से क्या क्या हुआ और माया रहित स्वरूप क्या है ये कोई कोई डरा देते हैं कि निर्गुण माया रहित तो परमात्मा को हैं तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे अपने हम ब्रह्म कहेंगे तो ईश्वर भी नाराज हो जाएंगे अच्छा यह जो शुद्ध ब्रह्म है सर्वज्ञ है या नहीं कुछ लोग कहेंगे कितने पापी है ब्रह्म परमात्मा को तो सर्वज्ञ नहीं है परमात्मा सर्वज्ञ है है या नहीं ईश्वर तो सर्वज्ञ है किंतु शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं है शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं कहने के लिए कुछ लोग डरेंगे डराएंगे कहेंगे पापी है ब्रह्म को कहते सर्वज्ञ नहीं तो असर्वज्ञ है क्या मूर्ख है ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं माया से सर्वज्ञ माया से सर्वज्ञ कहते माया से हो किसी प्रकार हो तो सर्वज्ञ तो है माया से तो क्या हो गया माया से सर्वज्ञ तो क्या हो गया और सर्वज्ञ तो है ही और हल्दी डाल दिया तो दाल में हल्दी सब्जी में पीलापन आ गया तो कहेंगे नहीं पीला नहीं है वो हल्दी से पीला हो गया तो हल्दी से पीला हो तो पीला है या नहीं हल्दी डालने से पीला पीला दिखता है तो पीला नहीं है पीता तो है अब हल्दी से हो गया हल्दी से हो तो क्या हल्दी से तो पीता है तो माया से हो तो क्या हो गया सर्वज्ञ है ना नहीं माया से तो सर्वज्ञ और तो माया से माया से कहते समय माया क्या है माया नाम को कोई है नहीं है उनकी घर वाले नहीं माया है वो आकर के ब्रह्म को सर्वज्ञ बना देती है भोजन बनाते जैसे कोई अगर पत्नी बना जैसे ब्रह्म माया आकर के उनको सर्वज्ञ बना दिया ऐसा नहीं माया कोई ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं है ब्रह्म से भिन्न तो माया से मतलब मिथ्या है मिथ्या झूठा राज्य में जैसे अज्ञान से सर्प दिखता है अज्ञान से सर्प बन गया अज्ञान से सर्प बन गया मतलब अज्ञान आप करके रज में रज्जु से सर्प बना दिया जैसे कुलाल घट बनाता है मिट्टी से ऐसे अज्ञान आकर के रज्जु से सर्प बना देता है ऐसा बनाते हैं क्या बना फना कुछ नहीं है इसी प्रकार माया से कुछ नहीं है माया से सर्वज्ञ मतलब वास्तव सर्वज्ञ नहीं है और सर्व प्रपंच दिखता है तो उसका कारण कल्पना करते हैं वही माया भी है वही सर्वज्ञ है वस्तुतः तो शुद्ध चेतन में कुछ नहीं माया नहीं माया का कार्य नहीं इस प्रकार विचार करेंगे तो ईश्वर नाराज हो जाए ना नहीं हमारा अनादर करता है <laughs> अनादर नहीं है वास्तव स्वरूप कहते ज्ञानी तो आत्मे वय में मतम ज्ञानी को अत्यंत प्रिय कहते भगवान वास्तव स्वरूप को जो जानता है कि उसको तो भगवान कहते मेरा आत्मा है मेरा स्वरूप है अत्यंत प्रिय है नाराज नहीं है इसलिए वास्तव स्वरूप चिंतन करके ध्यान करे वही ध्यान श्रेष्ठ है तो वास्तव स्वरूप का ज्ञान वेदांत श्रवण से होता है वेदांत श्रवण करते करते अंतकरण शुद्ध भी होता है दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात कृच्छ्राशीति फलम लभे प्रतिदिन अस्सी कृच्छ का फल प्राप्त होता है वेदांत श्रवण से श्रद्धापूर्वक गुरु शुश्रूषया लब्धात सेवा पूर्व श्रद्धापूर्वक विधिवत श्रवण करने से ये प्राप्त होता है अंतकरण की शुद्धि का भी साधन है जो वेदांत श्रवण में यदि प्रवृत्ति हो गई थोड़े समझ में आता है तो वे शुद्धि का भी साधन है अन्य कोई साधन करता है तो हमेशा श्रवण नहीं होता है विचार नहीं हो पाता है अन्य साधन में उपासना भी करे जपादि भी करे वेदांत श्रवण भी साथ साथ करने पर अंतकरण की शुद्धि होती है ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो कुछ नहीं अंतकरण शुद्ध हो गया तो उपदेश तो सामान्य है तुम ब्रह्म हो ज्ञान भी हम ब्रह्म उपदेश तो काम है अशुद्धि के कारण पहले तो श्रद्धा ही नहीं होती ग्रहण नहीं होता मैं कैसे ब्रह्म हूँ श्रुति प्रमाण है गुरु उपदेश करते हैं बार बार सुने तो भी डर लगता है मैं ब्रह्म कैसे हो अहम ब्रह्म कैसे होगा लक्षार्थ का ज्ञान नहीं होने से ये अहम ब्रह्म विचार करने में कठिन है अहम ब्रह्म विचार करते कहने से पर भी लक्षार्थ ज्ञान नहीं है तो वो तो इसे ऊपर ऊपर चिंतन चलता है अपने को कोई कहे मैं राष्ट्रपति मैं राष्ट्रपति बोलता रहता है जानता है मैं खेतर के जाकर रोटी मांग कर खाना है अतः घर में जाकर के नारायण हर मांगेंगे कोई देगा तो खाएंगे कहीं आगे जाओ तो भागना पड़ेगा और कहता है मैं राष्ट्रपति हूँ तो सब लोग क्या कहेंगे पागल है जाकर कहे मैं राष्ट्रपति हूँ फिर कहता है रोटी दे दो खाने के लिए इसी प्रकार ये अहम ब्रह्म कहता है और इधर लगता है कि मैं दुखी हूँ संसारी हूँ ये लक्ष्यार्थ समझ ले तो कहने की आवश्यकता नहीं लक्ष्यार्थ समझ लिया तो वही ब्रह्म है निश्चय हो जाता है जब लक्ष्यार्थ में संशय विपर रहित तो ज्ञान हो जाता है तो वह अहम अस्म ब्रह्म से निश्चय भी होता है ब्रह्माकार वृत्ति होती है लक्ष्यार्थ निश्चय नहीं होने से ही ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है लक्ष्यार्थ निश्चय होने पर ब्रह्माकार क्योंकि तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन तो मालूम हो जाएगा और त्वम पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन मालूम हो गया तो दोनों एक ही ब्रह्माकार वृत्ति होने पर वही निधि ध्यासन वो उत्कृष्ट साधन है उत्तम तत्व चिंता से तो वही तत्व चिंतन ध्यान की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है वो सामान्य ध्यान है निकृष्ट है तो मन की एकाग्रता के लिए वृत्ति निरोध के लिए ध्यान भी साधन है किंतु वेदांत श्रवण उससे अधिक है जप ध्यान तीर्थाटन अनुष्ठान सब साधन है सब साधन करने पर ही वैराग्य होता है अंतगुण शुद्ध होता है और वेदांत श्रवण सबसे अंतरंग साधन है ओम शनो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः